और उन काफिरों का हाल यह है कि उनके पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से जब भी कोई निशानी आती है तो ये लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं